छाछठ नंबर के श्लोक तक कुछ विचार हुआ है जिसमें अशोच्या नन शोचस्तम से यह आरंभ हुआ था उपदेश और सर्वधर्मान परित्यज्य मामे कम सर्व आकर के उपदेश पूरा हो जाता है गीता के तिप्त अध्याय के एकादश श्लोक में आरंभ हुआ था अष्टादश अध्याय के छियासठ नंबर के श्लोक में आकर के गीता का उपदेश पूर्ण होता है अशोच्या न शोचस्त में कहा गया था विष्मादि के बारे में जो शोक करते हो तुम प्रथम विस्मा संघे द्रोणम चामूर्सूदन इत्यादि था मैं अपने मान पूज्य लोगों को कैसे मारूं युद्ध तो भूमि में जो था किसको लेकर के तुम पूज्य मान रहे हो शरीर दृष्टि से आत्मदृष्टि से यदि शरीर दृष्टि से विष्मादि के बारे में चिंता करते हो शरीर तो नाशवान है ही है वो रहने वाला नहीं है पंचभूतों का कार्य है वह रहेगा नहीं उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं जो जात से ध्रुव मृत्यु है जो पैदा हुआ है शरीर पैदा हुआ मरेगा वो कोई रोक नहीं सकता और यदि आत्मा को लेकर के चिंता करते हो भीष्मा पिता का जो लक्ष्यार्थ होता है आत्मा बाच्यार्थ शरीर आदि है लक्ष्यार्थ आत्मा वो मरने वाला है ही नहीं चाहे शास्त्र चलाए जो भी करे वहां भी चिंता का विषय है ही नहीं और शरीर को लेकर भी चिंता के विषय फिर किसको लेकर के चिंता यहां से उपदेश आरंभ हुआ था यहां आकर के समाप्त कर दिया सर्वधर्म प्रत्यज माम एकम शरण प्रजा सारे धर्म का त्यागना धर्म अधर्म जितने भी सब त्याग देना माने धर्म करने से भी यही होगा स्वर्ग आदि शरीर प्राप्त होगा शरीर तो मिलेगा ही कष्ट होगा अधर्म करने से भी राजकीय शरीर प्राप्त होगा किंतु कष्ट तो भोगना ही है शरीर लेना कष्ट है तो सभी धर्मों को त्याग दो कहा हुआ है त्याग करके आम एकम निर्विशेषम आत्मान सर्वम प्रजा में जो निर्विशेष आत्मा मेरे शरण आ जाओ मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा ये कहा हुआ है मोक्षिष्यामी महाशिषा शोक मत करो ये कहा उपदेश हो गया अब विशेष रूप से विचार आरंभ करते हैं कि गीता का तात्पर्य क्या निकला विचार के द्वारा विचार करना जब तक माने शास्त्र से कहा हुआ जो विषय होता है तो उसमें जब तक अपने विचार रूपी कसौटी में उसको नहीं डालेंगे तब तक परिपक्व नहीं आता उसमें परिपक्वता लाने के लिए विचार चाहिए तर्क युक्ति लगाना इसका सारांश क्या निकला शास्त्र में तो बताया ही है तो अपने बुद्धि से भी काम करना तो फिर परिपक्वता आ जाती है उसमें शास्त्र के विषय में बाद में विचार के द्वारा परिपक्वत्व लाना होता है वही विचार आरंभ करते करना चाह रहे हैं यही है ये कहते हैं पूर्वापर आलोचना तो गीता शास्त्र व्याख्या देखो गीता शास्त्र की व्याख्या करते हैं भाष्यकार ने व्याख्या की व्याख्या करने वाले भाष्यकार है भाष्य में पूर्व और पर का विचार दिखाया यहां ऐसा कहा वहां ऐसा कहा श्लोक में नहीं ऐसा भाष्यकार का वचन है पूर्वापर आलोचना तो पूर्वापर विचार के माध्यम से पूर्व में ऐसा कहा गया था आगे ऐसा कहने वाले हैं इत्यादि करके गीता शास्त्र व्याख्या गीता शास्त्र के व्याख्या करके भाष्यकार ने व्याख्या की है पूर्वापर का विचार के द्वारा पूर्वापर भाव विचार डाल करके भाष्यकार ने व्याख्या की उपसंवृत्त उपसंहार भी कर दिया सर्वधर्म में महामेक शरण ब्रज पाप सर्व पापे विमोक्ष तो उसका उपसंहार करके गीता शास्त्र का समाप्ति करके तत् अर्थम निर्धारित उसके तात्पर्य विषय जो है निर्धारित हुआ है गीता का तात्पर्य क्या है मोक्ष किससे होना है जीव क्या चाहता है मोक्ष चाहता है मासु चाहे मोक्ष श्यामी कहा हुआ है क्यों अशोच्या मैंने शोक शब्द से आरंभ किया था गीता को और शोक शब्द में जाके समाप्त किया है अशोच्यानंद शोक आते हैं मां करके बोलते हैं शोक मत करो हाँ तुम शोक कर रहे हो कहा था वहां यहां शोक मत करो ऐसा तो कहा पूर्वापर आलोचना तो गीता शास्त्र में व्याख्या है भाष्यकार ने व्याख्या की है पूर्वापर विचार के द्वारा पूर्व श्लोक ने क्या कहा आगे के श्लोक में क्या है पूर्वार्ध उत्तरार्ध विचार करके भाष्यकार ने व्याख्या किया और उपसंगार भी कर दिया और यहां आकर के तत्तात्पर्यार्थम निर्धारित उसके तात्पर्य जो विषय है निर्धारित भी हुआ गीता के तात्पर्य क्या है आत्मज्ञान में तात्पर्य निर्धारित भी हुआ है सही है तात्पर्य वही है किसी प्रकार की जीव को आत्मज्ञान हो जाए तो संसार के जन्म वर्ण से छुटकारा मिल जाएगा ये तात्पर्य भी निश्चित किया है निर्धारित मे तात्पर्य निर्धारण होने पर भी विचार द्वारा निर्धारित अब उसी को शास्त्र के द्वारा विचार हुआ किसके द्वारा अब विचार के द्वारा निर्धारण करना उसी विषय को तो शास्त्र का तात्पर्य क्या है विचार के द्वारा अपने विचार के द्वारा मैंने बुद्धि रूपी कसौट में डाल करके उसको विचार करना है निर्धारित हम विचारम अवतारे तो विचार आरम्भ करते हैं शास्त्रीय विचार तो हो गया है अब अपनी बुद्धि लगाना उसी में क्योंकि श्रवण के बाद मनन बोलते हैं ना वही अश्विन इत्यादि भाषण में कहा अश्विन ही गीता शास्त्र ही मैं स्मृत था अश्विन गीता शास्त्र इस गीता शास्त्र में शास्त्रित शास्त्र शासन करता है मान ये करो ये मत करो ये दो बातें बोलने को शास्त्र बोला गया है सासु अनुष्ठ धातु है तो उसके द्वारा स्टन करते लगा हुआ है सर्वधातु तो प्रष्टन ऐसा सूत्र है शास्त्र शास्त्रित शास्त्र शासन करता है इसलिए शास्त्र अश्विनी गीता शास्त्र परम निश्रेय साधन निश्रेय साधन परम मोक्ष का साधन निश्रेय होता है मोक्ष मोक्ष का साधन निश्चितम निश्चित हुआ है इस गीता शास्त्र में मोक्ष का साधन जीवात्मा का जो मोक्ष का साधन है वो निश्चित हुआ है यही निश्चित किया है पूरे गीता का तात्पर्य इसमें है निश्चित हुआ क्या निश्चित हुआ अब विचार के द्वारा आरंभ करना है तो निश्चित क्या हुआ किम ज्ञानम जो गीता शास्त्र में निश्चित हुआ है निश्रेष साधन निश्रेष का साधन मान मोक्ष का साधन जो निश्चित हुआ है वह क्या ज्ञान है किम कर्म अथवा कर्म है आवश्यक उभय या दोनों मिलकर के ज्ञान कर्म समुच्चय करके क्योंकि भर्ती प्रबंध आदि ज्ञान कर्म समुच्चयवादी होते हैं उपवर्ष है भर्ती प्रबंध है मीमांसक है एक देशी है वो मीमांसक पूर्व मीमांसक है केवल ज्ञान से मोक्ष कर्म भी करना पड़ेगा ज्ञान के ज्ञानोत्तर भी कर्म होगा ये कहना क्यों या अवजीवित अभिगम जुहियात वाक्य है जब तक जिए क्या करें तो ज्ञान होगा तो मरने के पहले ही तो होगा ना कि जीवन भर अग्निहोत्र करना है तो ज्ञान होने पर थोड़ी छोड़ सकता उसको नहीं छोड़ सकता ये वाक्य है यावत जीवन अग्निहोत्र है कुर्बन एवं कर्माणी जीव सप्तम समाधि है माने कर्म करते हुए ही सौ साल जीने की इच्छा करेगा ये कहूंगा तो इन वाक्यों को देख करके लगता है ज्ञान होने पर भी कर्म नहीं छोड़ सकता कि उनका कहना होता है भारतीय प्रपंच है उपपथ आदि हैं आचार्य लोग पूर्व मीमांसक हम भी मीमांसक कहलाते हैं हम उत्तर मीमांसा कहलाते हैं क्या कहलाते हैं उत्तर मीमांसक वाले होते हैं तो कहा तो इस गीता शास्त्र में परम निश्रेक्ष का जो साधन है परम निश्रेक्ष होता है मोक्ष उसका जो साधन निश्चित हुआ है क्या निश्चित हुआ अपने बुद्धि से विचार करना भी क्या निश्चित हुआ क्यों ज्ञानम क्या निश्चित हुआ ज्ञान मोक्ष का साधन ज्ञान है निश्चित हुआ अथवा किम कर्म बा अथवा कर्म अग्निहोत्र आदि जो कर्म है अथवा आहोषित उभय या दोनों मिलकर के मोक्ष होगा ज्ञान और कर्म समुच्चय से मोक्ष होगा केवल ज्ञान से भी नहीं केवल कर्म से भी नहीं समुचित होकर मोक्ष ये तीन यह विकल्प रखते हैं विचार के लिए क्या ज्ञान है मोक्ष का साधन अथवा कर्म है या दोनों मिलकर है ये तीन विकल्प सिद्धांत है विचार के लिए रखा हुआ है तो पूर्वादि बोलता है कुत संदेह या क्या संदेह आ गया कैसे संदेह हो गया माने गीता का प्रयोजन क्या है परम विस्तृत साधन क्या है कर्म है ज्ञान है अथवा उभय है कैसे संदेह हो गया आपको पूर्व पक्ष पूछता है कुतः संदेह माने संदेह का कोई निमित्त होना चाहिए बिना निमित्त संदेह नहीं होता संदेह के लिए निमित्त चाहिए तो निमित्त के बिना संदेह नहीं होता क्या निमित्त है पूछना चाहता कुत संदेह किस निमित्त से संदेह हो गया गीता का तीन प्रकार के संदेह रखा है आपने ज्ञान है मोक्ष का साधन अथवा कर्म है या उभय है ये तो कुतः संदेह क्यों किस कारण से संदेह हो गया ये प्रश्न है तो उत्तर देते हैं देखो तो गीता के श्लोकों में ऐसे ही तीनों प्रकार की बातें कुछ दिखाई पड़ते हैं उन श्लोकों को विचार करते समय में यह ज्ञातवा मृतमश्नुते कहा हुआ है त्रयोदश अध्याय में कहा है ज्ञम यह तत्प्रवक्ष्यामी यज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म न सत्यना सदस्य थे त्रयोदश अध्याय में आया जिसको जान करके मुक्ति होगी कहा है अमृतम अमृतम अश्नुते कहा हुआ है अमृतत्व को प्राप्त कर दिया जिसको जानकर तो यह ज्ञान से मुक्ति है ऐसा दिखता है मोक्ष का साधन ज्ञान है यह श्लोक पढ़ते समय ज्ञान को दिखाई दे रहा है यज्ञात्वा मृतमश्नुते जिसको जान करके अमरत्व की प्राप्ति होगी ये कहा हुआ है ज्ञान दिख रहा है साधन मोक्ष का साधन क्या दिख रहा है सूर्य भगवान के शब्द में है ये और तत्वमाम तत्व तो ज्ञातवा विषद तदनंतरम ऐसा ये इसी अष्टादश अध्याय में आया है भक्त्यामाम अभिजानाति अभिजानाति यावान यशास में तत्व था तत्वमाम तत्व तो ज्ञातवा विषद तदनंतरम इसी अष्टादश अध्याय यहां भी ज्ञान को ही साधन दिखा है क्या दिखा है मोक्ष का साधन ज्ञान यही सिद्ध होता है उसके माने भक्ति के द्वारा उपासना आदि के द्वारा मेरे को माने सामान्य जानता है सविशेष रूप से जानता है उसके बाद विशेष रूप को जानकर निर्विशेष रूप को जानकर के मेरे में प्रविष्ट होता है ये शब्द है <coughs> जो ज्ञान से मोक्ष बताया मन तत्व तो ज्ञातवा विस्तृत ये श्लोक ज्ञान से मोक्ष है इसे दिखा रहा है मोक्ष का साधन ज्ञान ये भी दिखाता है तो मोक्ष का साधन ज्ञान है आत्मज्ञान है ये श्लोकों में दिखाई दिया दो श्लोकों में दिखाया और इधर देखते हैं इत्यादि नहीं बोलते इत्यादि बहुत सारे वाक्य ज्ञान से मोक्ष कहने वाले वाक्य बहुत सारे वाक्य गए इत्यादि केवल आज ज्ञान आज दृष्टि से प्राप्ति दर्शन इत्यादि जो वाक्य हैं केवल ज्ञान आत्मज्ञान मात्र से मोक्ष की प्राप्ति दिखाते हैं वाक्य ये भगवान के जो वचन है इन वचनों को देखते हुए लगता है ज्ञान से मोक्ष है इन वाक्यों को पढ़ते हुए ऐसा लग रहा है और आगे और है कर्मण्य बाधिकार अस्ते माँ फलेश कदाचन माँ कर्म फल हेतु तो माते संगुष्ट द्वितीय अध्याय में कहा बात कर्म में ही तुम्हारा अधिकार बोल रहे हैं तो इससे मतलब क्या सिद्ध होता है कर्म से मोक्ष सिद्ध हो ऐसा दिखता है इसी गीता में है कर्मण्य बाधिकार अस्ते माँ फलेश कदाचन ये संदेह के निमित्त बन गया यह कर्म से मोक्ष दिखा रहा है पूर्व में ज्ञान से मोक्ष दिखाया संदेह के कारण निमित्त है यहाँ गीता में किससे मोक्ष होगा हमारे जैसे अगले संदेह के लिए निमित्त बने हुए हैं कहीं तो ज्ञान से मोक्ष दिखा रहा है कहीं कर्म से दिखा रहे एक कहा कर्मण्यवाधिकार ये कहा और कुरु कर्म तस्मात्म पूर्व पूर्वतरम कृतम चतुर्थ्य में कहा एवं ज्ञातवा कृतम कर्म पूर्व मोक्ष भी कुरु कर्म तस्मात्म पूर्व पूर्वतरम कृतम देखो इस प्रकार मुमुक्षों ने कर्म को ही किया है तो तुम भी जो पूर्व और पूर्व पूर्वतर लोगों ने जो किया हुआ कर्म तुम भी वही करो शत्रु बोला हुआ तो यहां भी क्या दिखता है कर्म से मोक्ष दिखता है कर्म के साधन दिखता है मोक्ष का साधन कर्म दिख रहा है कहीं ज्ञान दिख रहा है कहीं कर्म दिख रहा है तो संदेह का निमित्त हो गया ना किससे मोक्ष है निमित्त है यही है कहीं हाँ, ज्ञान परक श्लोक है कहीं कर्म परक श्लोक है इसको देखते हुए हमारे मन में शंका आ जाती है कि किससे मोक्ष होगा ये कहना है एक कहा कर्मण्यवाधिकार से पूर्व कर्म ने कर्मणाम अवश्य में दर्शन नहीं ये ये वाक्य जो है ना इन वाक्य क्या दिखाते कर्म अवश्य कर्तव्य है दिखाते हैं कर्म अवश्य कर्तव्य है अवश्य कर्तव्य तो मोक्ष उसी तो होना ये सिद्ध होता है एवं ज्ञान हो कर्तव्यता उपदेशात समुच्चय समुचित निश्चित भवित संशय ज्ञान और कर्म दोनों को कर्तव्यता दिखाई है यज्ञात्वा वस्तु से ज्ञान कर्तव्य दिखाया क्या दिखाया ज्ञान को कर्तव्य दिखाया जिसको जान करके मोक्ष होगा बोला और कर्म ने बाधिकार आपने कर्म को कर्तव्य दिखाया हुआ है दोनों को जब कर्तव्य दिखाया तो दोनों ही करना है तो समुचित भी एक अर्थ भी आ जाता है मिलकर के कहीं ज्ञान को कहा कहीं कर्म का इसे मतलब दोनों के करके ये कहते हैं कि एवं ज्ञान कर्म कर्तव्यता उपदेश ज्ञान और कर्म दोनों को कर्तव्यता का उपदेश है गीता में कहीं ज्ञान का उपदेश कर्तव्यता दिखाया है कहीं कर्म को दिखाया समुच्चता और अभी दोनों के सम्मिलित होकर भी ज्ञान कर्म समुच्चय हो समुच्चत अभी विश्रेष हेतु तुम सियादी भगवत संशय विश्रेष मन मोक्ष का साधन हो हेतु मन साधन भवेद संशय इस प्रकार संशय होना स्वाभाविक है संशय है संशय का निमित्त ही है भिन्न भिन्न स्थान में कभी ज्ञान की प्रशंसा की कभी कर्म की प्रशंसा की साधन बताए मोक्ष का तो दोनों कहने कर्तव्यता दिखाने पर दोनों मिलकर भी कर्तव्यता आ सकती है तो इसलिए संशय है इन वाक्यों के ऊपर अपने बुद्धि से विचार करना है क्या है इसका निष्कर्ष क्या निकलता है किम पुनर अत्र मीमांसा फल प्रश्न उठता है पूर्व पक्ष पूछता हमारा ये विचार का क्या फल निकलेगा ये जो कर्म है या ज्ञान है या उभय है दोनों मोक्ष का साधन क्या है विचार जाएंगे फल क्या निकलेगा प्रयोजन क्या होगा इसका विचार का प्रयोजन ये प्रश्न आया पूर्व पक्ष का तो उत्तर देते हैं ननु एतदेव ऐसा अन्यतम से परम निश्रेय साधरत्व साधरत्व अवधार ये फल होगा सिद्धांत ये बोलते फल क्या होगा इनमें से तीन जो संशय के कारण बने हुए हैं कई कर्म की प्रशंसा है कभी ज्ञान का है यहां गीता में तो दोनों के कर्तव्यता दिखाने पर तीसरी कोटि भी हो सके दोनों मिलकर के यही है यह तदेव ऐसा हम अन्यतम अन्य से परम निश्रेष साधन तो अवधारण हो जाते यही है परम निश्चय साधन यही फल होगा क्या एक निष्कर्ष मिला ये तदेव यही है ऐसा मानी तीनों में से तीन पक्ष है ज्ञान है मोक्ष का साधन कर्म है या वह है ऐसा अन्यतम से अन्यतम तीनों में से कोई एक निष्क्रिय हेतु तो मोक्ष का कारण यही रहा परम निश्रेय साधन तो अवधारण फलम फल यही होगा परम निश्रेयत्व तो, परम मोक्ष का साधन का निश्चय करना है इनमें से यही है परम निश्चय का साधन हमारे विचार का प्रयोजन यही होगा निश्चय करना क्या होगा एक का निश्चय करना तीन पक्ष में से एक पक्ष को निश्चय करना यह फल होगा एक कहा सिद्धांत अतो विस्तीर्ण तरम मीमांसम यह तद इसलिए विस्तार पूर्वक इसका मीमांसा करने विचार करना चाहिए मीमांसा बने एक पवित्र विचार है तो मांग माने धातु तो से होता है निष्कर्ष निकालना प्रत्यय लगा जो मीमांसा हो जाएगा तो मीमांसा विचार का फल यही होगा इन तीन में से एक मोक्ष का साधन यही है यह निश्चय करना विचार करने से निष्कर्ष आएगा पूर्व पक्ष बोलता है माने सिद्धांत बोलते हैं <clears throat> किम पुनरात्र मीमांसा फल पूर्व पक्ष ने पूछा था तो सिद्धांत या नम ये तदेव ऐसा अन्यतम से इनमें से तीन में से कोई एक को अन्यतम कहा जाता है ये तीन है इनमें तीन में से कुछ एक को परम निश्रेय साधन अवधारण फलम यही होगा परम प्रयोजन यही होगा मीमांसा का फल यही होगा परम निश्रेय साधन यही है मोक्ष का साधन परम साधन यही है यही निश्चय कर निकालना फल होगा अतो विस्तृत तरह मीमांसा सिद्धांत बोल रहे हैं विस्तार से कहना चाहिए आत्मज्ञान से तो केवल से तो तुम भेद प्रत्यय निवर्तक कैवल्य फलावसान उत्पाद कहते हैं निष्कर्ष में यही आएगा ये, ये माने संक्षिप्त वाक्य है आगे व्याख्या ये इसकी व्याख्या होगी तो मन किंतु ये तीनों में से ज्ञान कर्म समुच्चय तीन संशय के कारण बने हैं किंतु तू माने किंतु आत्मज्ञान से जो आत्मज्ञान है जीवात्मा परमात्मा के ज्ञान हम ब्रह्माष्टमी ज्ञान है केवल से केवल आत्मज्ञान ही मोक्ष का साधन है इस निश्चय निश्चय होगा विचार करने के बाद तो निश्चय ही आएगा ये संग्रह वाक्य है आत्मज्ञान से तो केवल से निश्चय से तो तुम वेद प्रत्यय निवर्तक केवल फलापसनत कहा और आत्मज्ञान ही केवल केवल अकेला आत्मज्ञान निश्चय से हेतु तो मोक्ष का साधन हो हेतु तो उसी में रहेगा आत्मज्ञान में रहेगा मोक्ष का साधनत्व क्यों भेद प्रत्यय निवर्तकत्व भेद प्रत्यय मैं करता हूं ये मेरा कर्म है इस प्रकार मैं इसको करके ये फल प्राप्त करूंगा ये जो भेद बुद्धि होती है मैं करता हूं ये मेरा कर्तव्य कर्म है इसके फल मेरे को प्राप्त होगा ये जो भेद बुद्धि है त्रिपुटी है जो भेद प्रत्यय निवर्तक भेद बुद्धि को निवृत्ति करके मैं कर्ता कर्म क्रिया सबको निवृत्ति करने वाला होता है आत्मज्ञान क्या होता है भेद प्रत्यय निवर्तकत्व भेद बुद्धि के या प्रत्यवत ज्ञान है भेद ज्ञान के निवर्त होने से कैबल फलावसान तुम आत्मज्ञान से केवल ऐसे कहा कैबल फलावसान फल में जाकर समाप्त कौन होता है आत्मज्ञान ही होता है जो भेद बुद्धि का निवर्तक है जब तक भेद बुद्धि होगी तब तक कैबल्य मिलने वाला नहीं है मैं करता हूं ये मेरा कर्म है इत्यादि जो भेद बुद्धि होगी इसका फल मैं भोगूंगा जब तक भेद बुद्धि रहेगी त्रिपुटी होगी तब तक मोक्ष मिलना नहीं है केवल आत्मज्ञान शुद्ध आत्मज्ञान होना ये वेद बुद्धि का निवर्तक वही होता है केवल फल के अवसान में समाप्ति में वही होता है केवल केवल स्वभाव का जो अकेला होना मोक्ष काल का अकेला आत्मज्ञान है ये कहा हुआ है ठीक से देखें किम शब्दार्थ में त्रेधा विभजन है किम है ना उसी का तो तीन प्रकार से विभाग करते हैं त्रेधा हमारे तीन प्रकार जैसे एकादशावर एकादश ग्यारह विभाग होता है तो किम शब्दार्थ में त्रेधा विभजत है तीन प्रकार से विभाग करते हैं इसके क्या क्या विभाग है किम ज्ञानम किम कर्म आवश्यक वही वही तीन प्रकार है किम शब्द का ठीक कहा किम ज्ञानम इत्यादि कहा था ठीक है निमित्ताभावे संशय से आवासत्वा न निरस्यता मत्वा पृछति पूर्वाज पूछता है महाराज कुतः संध्या यही है ना निमित्त संध्या के लिए भी निमित्त चाहिए क्या चाहिए बिना निमित्त का संदेह नहीं होता ठाण उर्वा बात जो तो हम मान वहां संदेह करते निमित्त है माने वहां जो कटा हुआ वृक्ष होगा कुछ बचा हुआ है तो हसपाद आदि का आकार वहां भी दिखता है यहां मनुष्य भी है इसलिए मनुष्य बुद्धि हो जाते भ्रम से निमित्त है वो बकर कोटा राज मत तो जो वहां दिखता है स्थानों में वो होता है निमित्त किसके लिए पुरुष की कल्पना कर हैं निमित्त बिना संदेह नहीं होता ठीक कहना है निमित्ता भावे पूर्व पक्ष बोल रहा है निमित्ता भावे जब निमित्त रहो क्यों संशय करना भगवान के वाक्य में कोई निमित्त मिलता नहीं ज्ञान कर्म आदि के विषय में निमित्ता भावे संशय से आवास होता संशय जो है जैसे हित्वाभास होता है ना उस पर आवास है तो फल सिद्ध होने वाला नहीं है न निरस्यता इसलिए उसके द्वारा तो संशय को खंडन करने की आवश्यकता संशय के निराश करने के लिए अब विचार करना है तो संशय के निराश की आवश्यकता नहीं क्यों भाष है क्या है निमित्त नहीं है निमित्त होता तो संशय होता निमित्त नहीं भाष है वो इसलिए उसको त्याग खंडन करने की आवश्यकता है विचार के द्वारा न निरसता तो विचार व्यर्थ है पूर्वादी बोलना चाहता है इस वक्त आप तो पृछति कुतः संदेह करके पूछा कैसे संदेह हो गया आपको क्या निमित्त दिखाया गीता में भगवान के वाक्यों में परस्पर मतभेद कहा दिखा के कहने पर उत्तर देते हैं तब तद अर्थ अवद्योत का अनेक वाक्य दर्शन तर तो निमित्त विद्या कहीं कर्म का विषय बताने वाला वाक्य है कहीं ज्ञान का विषय बताने वाला वाक्य है भगवान के वाक्य में ऐसे गीता में तब तद अर्थ अवद्योत का उन विषयों को प्रकाश करने वाले जो हैं अनेक वाक्य दर्शन अनेक प्रकार के वाक्य दिखाई दिए या ज्ञान की प्रशंसा हो रही है ज्ञातवा वृत्त आदि है कर्म कर्मण्यवाधिकार है कर्तव्यता कहीं ज्ञान को दिखाया कहीं कर्म को दिखाया है तत्त अर्थ उस उस विषय को अवधोतक पर प्रकाशक अनेक वाक्य दर्शन अनेक प्रकार के वाक्य दिखाई देते हैं गीता में कहा दिखाई देते हैं भगवान के वाक्य इस प्रकार दिखाई देते हैं इसलिए तन निमित्तम संशय का निमित्त है वाक्य तन निमित्तम संशय निमित्तम संशय का निमित्त अनेक प्रकार के वाक्य है कहीं ज्ञान को कर्तव्य दिखा रहे हैं कहीं कर्म को दिखा रहे हैं यज्ञात्ता इत्यादि ये दिखाया यज्ञात्ता व्रतवश्रुति तो कहा था त्रयोदश अध्याय में कहा है ज्ञान को ही आप मोक्ष का साधन दिखा रहे हैं जिसको जान करके मुक्त हो जाओगे ये कहा हुआ है अमृतम स्मृति मोक्ष मोक्ष प्राप्त करता है कहा हुआ है और, और भी कहा तत्व माम तत्व क्या ये भी ज्ञान को लेकर कहा है भक्त्यापाम अभिजानाते यावान या शास्त्र तत्व था तत्वपाम तत्व तो ज्ञातवा विशेषतरम ये भी ज्ञान कृष्ण का है और कर्मों का भी कर्तव्य दिखाया था थान पर बोलते हैं गीता में ही हाँ। कर्मणाम अवश्य कर्तव्य तो उपलब्धात कर्म भी अवश्य कर्तव्य दिखाई दे रहा गीता में प्राप्ति हो रही कहा कर्म नियमाधिकार है मां फल सुखदाचन आदि में कर्तव्य तो उपलब्धात तेभ्योपी कर्मभ्योपी जो कर्म है उनसे भी निष्क्रिय प्राप्ति भगवाती कर्मों से भी मोक्ष की प्राप्ति प्रकाश हो रहा है गीता में क्या रहते बोला पूर्व कर्म तो पूर्व पूर्व कर्म कृत इत्यादि वाक्य है कर्म को ही कर्तव्य दिखा रहा है इसी गीता में तो कर्म से भी मोक्ष प्राप्ति ऐसी दिख रही है तो कर्म से प्राप्त है या मोक्ष से प्राप्त है या उभय से संदेह होगा समुद्र भिन्न भिन्न प्रकार की बातें आ रही गीता इसलिए अब विचार करना हो गया विचार के द्वारा खंडन करना है संशय को निवृत्त करना है ये ये विचार के कारण ये संशय बना हुआ है कहना चाहते हैं तथापि समुच्चय प्रापकम नास्ती चलो कई कर्म की कर्तव्यता दिखाने वाले बात कर्म की कर्तव्यता दिखाया कई ज्ञान की समुच्चय की प्राप्ति तो नहीं है ना कहीं भगवान ने दोनों करने को तो कहा नहीं है ऐसे वाक्य तो मिलता नहीं ये पूर्वक्ष की शंका है कर्मणाम अवश्य कर्तव्य उपलब्धात तथा फिर भी कर्म यदि अवश्य कर्तव्य दिखने पर भी समुच्चय प्रापकम नास्ती समुच्चय प्रापक वाक्य तो नहीं गीता में कोई दोनों करे ऐसा वाक्य तो है ही नहीं ऐसी शंका आगे पूर्व पक्ष तो सिद्धांत कर एवं इत्यादि कहा एवं इत्यादि एवं ज्ञान करोड़ों कर्तव्यता उपदेश दोनों के कर्तव्य दिखाई है कर्तव्य तो दिखाया किसका ज्ञान का भी कर्म का ही तो दोनों कर्तव्य है तो सम्मिलित होकर भी कर्तव्य बनता है ये विशंका आ सकती है इस विषय में यही है सत्याम सामग्र्याम कार्य कार्य में अवश्य भावित है देखो सामग्री होने पर कार्य अवश्य होता है संशय का सामग्री यहां है तीन तरह के दो तरह के वाक्य आ गए चाहे ज्ञान के परम मोक्ष का कारण ज्ञान कभी मोक्ष का कारण कर्म दिख रहा है दोनों दिखने पर मिलकर के भी हो सकते हैं तो सामग्री है सामग्री होने पर कार्य अवश्य बाधी है कार्य होगा ही संशय का सामग्री है यहाँ गीता में तो संशय होना स्वाभाविक यही कहते सत्याम सत्याम सामग्रियाम सामग्री के होने पर कार्यम अवश्य भावी कार्य अवश्य होता है अवश्य भावी है कार्य इति उपसंहार करते इस बातों को इति भवेद संशय कहा इस प्रकार संशय होता ही है गीता के पूर्वापर विचार करने पर संशय आ जाता है क्या कर्म से मोक्ष है ज्ञान से मोक्ष है अथवा मिल करके संशय है इसलिए विचार करना चाहिए विस्तार रूप से ये कहना है संदिग्धम सफलम तो विचार्यम इति स्थित असति फले संदिग्धम अभी न विचार्यम इति बुद्धवा पृछति पूर्व पक्ष पूछता है देखो विचार उसका होता है संदिग्धम सफलम संदेह युक्त हो और फलशाली हो फले न सहितम सफल फल भी मिलता हो प्रयोजन भी सिद्ध होता हो संदेह भी हो रहा हो उसी का विचार होता है विचार उसी भी वस्तु का होता है संदिग्धम सफलम च विचार्यम जो फल के सहित हो संदिग्ध हो उसी का विचार करना चाहिए यही है विचार्यम स्थिति ये स्थिति है युक्ति है ये जो संदिग्ध हो विचार हो फल फल फलशाली विचार करने को फल निकलता हो स्थिति असत्य फल है संदिग्ध में विचार हाँ। फल ना हो प्रयोजन सिद्ध न होता हो तो उसमें संदिग्ध होने पर भी विचार नहीं करना चाहिए यदि प्रयोजन सिद्ध नहीं है तो उसमें विचार नहीं करना चाहिए कौए के कितने दांत होते हैं है कि नहीं दांत किसी ने देखा नहीं है संदिग्ध तो है कौए के दांत होता कि नहीं होता किसी ने देखा नहीं है संदिग्ध तो है फिर भी कौए के दांत को विचार करके वो फल नहीं निकलता निष्प्रयोजन है संदिग्ध होने पर भी संदेह युक्त होने पर भी फल न हो तो विचार नहीं करना चाहिए जैसे विचार इसका करना है मान संदेह युक्त हो मान सामान्य ज्ञात हो वही संदेह होता है बिल्कुल अज्ञात पे संदेह होगा ही नहीं सामान्य ज्ञात हो विशेष ज्ञात न हो ऐसी वस्तु का संदेह होता है कौए के दांत के बारे में सामान्य ज्ञान भी इसको नहीं है है या नहीं सामान्य ज्ञान भी नहीं है तो मैंने संदिग्ध तो और फल नहीं है उसको विचार करने से कवि के साथ होता नहीं होता विचार कर प्रयोजन से नहीं होता नहीं करना चाहिए सामान्य ज्ञान हो विशेष अज्ञान हो विशेष रूप से उसी का संदेह हो जाता है क्या है ये स्थिति तो होती है विचार उसी का होगा फल मिलता है वहां ये कहना चाह रहे हैं ठीक है कहते हैं किम पुनः पूर्वादि पूछा किम पुनर्अत्र मीमांसा फलम या विचार करेंगे जो दो प्रकार के वाक्य दिखाई दिया ज्ञान से मोक्ष अथवा कर्म से मोक्ष दो तरह की बातें दिखाई दे रहे हैं तो इस विचार का फल क्या आएगा यहां प्रश्न उठा तो आगे उत्तर देना है टीका में बोलते हैं प्रत्येकम ज्ञान कर्मणों समुच्चय मुक्ति प्रति परम साधनम साधनता इति अवधारण एवं विचार फल प्रति परिहरती सिद्धांत ये बोलते विचार का फल यही होगा या सिद्धांति का कहना है क्या प्रत्येकम ज्ञान करोड़ समुचित मुक्ति प्रति क्या एक एक प्रत्येक ज्ञान अथवा कर्म दोनों में से कोई एक अथवा समुचित दोनों मिलकर के मुक्ति मुक्ति होना मुक्ति प्रति परम साधनता परम साधनता क्या है निश्चय करना विचार से निश्चय करना है चाहे ज्ञान हो चाहे मोक्ष कर्म हो चाहे सम्मिलित हो मुक्ति के प्रति यही साधन है ये प्रयोजन सिद्ध होगा इसका क्या होगा विचार का फल ये प्रयोजन सिद्ध होगा एक साधन में निश्चय हो जाएगा यही है साधन ये कहा चाहते हैं साधन अवधारण में यही है साधन ऐसा निश्चय करना ही प्रयोजन होगा यहाँ विचार फल विचार का फल यही होगा यदि परिहर सिद्धांत कहा ननु इत्यादि शब्द होगा न तो एतदेव ये विचार का फल यही है फलम एतद फलम विचार का फल क्या होगा ऐसा अन्य तमस्य तीनों प्रकार में से कोई एक चाहे ज्ञान ही साधन निश्चय हो जाए चाहे कर्म चाहे उभय परम निश्रेय साधन तो अवधारण कहा माने परम निश्रेय मोक्ष का साधन निश्रेष्ठ माने मोक्ष है उसके साधन यही है ऐसा निश्चय करना तीनों में से किसी को ये फल होगा विचार का फल तो विस्तृत तरह मीमांस इसलिए विस्तार से इसका विचार करना चाहिए इन वाक्यों में के ऊपर विचार करना चाहिए वाक्यों को लेकर संदेह हो रहा है ज्ञान से मोक्ष है कि कर्म से मोक्ष है या उभय से मोक्ष है ठीक है संदेह प्रयोजन और विचार प्रयोजक और भावाद जाते हैं संदेह और प्रयोजन जो विचार का प्रयोजक होता है क्या होता है विचार का जो प्रेरक कौन होते हैं संदेह हो और प्रयोजन भी सिद्ध होता हो वही विचार का प्रयोजन होता है संदेह और प्रयोजन दो होते हैं विचार का जो प्रयोजक कौन होते हैं संदेह और प्रयोजन संदेह प्रयोजन और विचार प्रयोजक विचार का प्रयोजक यही दो हैं विचार से प्रयोजक विचार प्रयोजक तय दोनों संदेह प्रयोजन है विचार के प्रयोजन होते हैं प्रेरक होते हैं हाँ। संदेह होने पर विचार होगा संदेह हो और प्रयोजन भी सिद्ध होने वाला हो तो विचार विचार का प्रयोजन यही है संदेह प्रयोजन भावाद यहां है गीता में है संदेह प्रयोजन दोनों है संदेह वाक्य है प्रयोजन सिद्ध भी होना है मुक्ति का फल यही है निश्चय होना है होने से विचार द्वारा परम मुक्ति साधन निर्धारण विचार के द्वारा ये तीनों में से परम मुक्ति का साधन क्या है यही है विचार करना है ज्ञान है कर्म है अथवा उभय है इति निगम इति समापन करते अतः इत्यादि कहा था इसलिए कहा था अतो विस्तृण तरफ मीमांसा विस्तार से मीमांसा करना चाहिए विचार करना चाहिए फल होता है कहा ठीक है कहते एवं विचार उठा दिया विचार करना चाहिए निश्चय हो गया इन वाक्यों को देखते हुए विचार करना चाहिए मुक्ति का फल क्या है आत्मज्ञान है अथवा कर्म है अथवा उभय मिल करके है विचार अब बता है सिद्धांतम संग्रह सिद्धांत वाक्य लाते हैं सिद्धांत ही बोलना चाहते देखो आत्मज्ञान शुद्ध केवल ऐसे निश्चय तुम आत्मज्ञान ही केवल मोक्ष का साधन यही है ये निश्चय हो गया सिद्धांत ही बोलेंगे क्या बोलेंगे तू मान किंतु वो दोनों पक्षों को निवृत्ति कर रहे कौन कर्म और उभय को मोक्ष नहीं मिलेगा कर्म से भी नहीं ज्ञान कर्म समुच्चय से बने के प्रबंध बोलते हैं जाति का समुच्चय बोलते वो भी नहीं समुच्चय होना संभव भी नहीं असली बात है भेद भेद भी प्रत्यय को बाध करके आत्मज्ञान होगा और कर्म होगा भेद पूर्वक होगा मैं करता हूं ये मेरा कर्म है ये अमुक फल भेद ज्ञान पूर्वक होता है कर्म और भेद ज्ञान को बाध करके आत्मज्ञान होगा दोनों में विरोध है ज्ञान कर्म समुचय तो होना संभव भी नहीं है ये परिपुर मानते हैं समुचयवादी मानते हैं नहीं उनका कहना है कि यावजीवादी श्रुति है तो ज्ञान होने पर भी कैसे अग्निवत आदि को छोड़ेगा छोड़ नहीं सकता यावजीवित अभिनव जीवन के पूरे जीवन भर का रहा है ज्ञान होने से छोड़े ऐसा तो है ही नहीं तो भाष्यकार बोलते भाई ऐसा है वो आत्मज्ञान जिनको नहीं है उनके लिए यावजीवादी श्रुति है आत्मज्ञान होने पर नहीं लग सकती उसमें आत्मज्ञान जब तक नहीं तब तक ये यज्ञ आदि करे अग्निहोत्र आदि करे तो आत्मज्ञानी से भिन्न लोग हैं जो ज्ञानी है आत्मा का ज्ञान नहीं है देहादि में आदि भाव है उनके लिए यावजीव स्थिति है निठल्य मत रहना नहीं तो स्वाभाविक कर्म दबोच तो देगा तुम्हें <clears throat> पूर्व निर्भर कर्माणी जिस वैसा था वहां एवं तो ये ना लेते तो न कर्म लिखते न कहा है जीवन भर कर्म करोगे यदि अज्ञान अवस्था में हो कर्म करते हो तो स्वाभाविक कर्म स्वाभाविक जो पशुवत होने वाले कर्म है उनसे बच पाओगे क्यों समय उतना ही होता है हम्म। चाहे शास्त्रीय कर्म करके समय काटो चाहे अशास्त्रीय कर्म करो स्वाभाविक कर्म करो समय तो उतना ही है तो इसलिए देहाभिमान जब युक्त हो हम्म, एवं तो ही नान्य थे तो थी न कर्म लिप्त नराभिमान यदि हो तुम मैं मनुष्य हूं ये पने में हो हाँ, उस स्थिति में कर्म करते हुए रहना चाहिए स्वाभाविक कर्म को दूर करने के लिए तो स्वाभाविक कर्म हो जाए हमारे से तो उसके लिए स्वाभाविक है अनाधिकाल से चल रहे स्वाभाविक कर्म करते हुए इसके लिए वो जब तक अज्ञान अवस्था में तब तक कर्म करे इसलिए यावत जीवश्रुति उनके लिए है ज्ञान होने पर नहीं क्यों वेद ज्ञान को बात करके ज्ञान होना है वेद ज्ञान पूर्वक कर्म होना है समुचय होना संभव ही नहीं है राशिकारी बोलना चाहते हैं ये सिद्धांत कहा आत्मज्ञान से तो मानी किंतु दोनों पक्षों के खंडन के लिए कर्म भी मोक्ष का साधन नहीं हो सकता और ज्ञान कर्म उभय भी नहीं हो सकता तू मानी किंतु आत्मज्ञान से जो आत्मज्ञान है वही अपना ज्ञान केवल से केवल आत्मज्ञान से केवल शुद्ध आत्मज्ञान है हेतु तुम निश्रेष मान मोक्ष का हेतु वही है मोक्ष का हेतुता तो उसी में आत्मज्ञान नहीं है भेद प्रत्यय निवर्तक क्यों भेद बुद्धि का निवृत्ति कर देता है क्या कर देता है भेद प्रत्यय निवर्तक है ना कैबल्य फलावसान तो कैबल्य फल में अवसान हो जाता कौन आत्मज्ञान भेद बुद्धि का निवृत्ति करता हुआ कैबल्य में आत्मज्ञान जो हो उसी में समापन करके बैठा एक हो जाता है <clears throat> एक आवना है ठीक है मैं हो गया इतना ही था होगा आगे आगे कहा है संग्रह वाक्यम विवरण आदो आत्मज्ञान अपोह्यम अविद्याम दर्शेगी संग्रह वाक्य यही था संक्षेप में कहा हुआ था अब क्या विस्तार करना उसका संग्रह वाक्य क्या था आत्मज्ञान से केवल से निश्चित हेतुत्वम तो यही था मोक्ष का साधन आत्मज्ञान ही है ऐसा कहा तीन में से आत्मज्ञान ही है तो वही कहते हैं संग्रह वाक्य है वो संक्षेप में कहा हुआ है उसका आगे विस्तार उसी वाक्यों का विस्तार करना है संग्रह वाक्य विवरण संग्रह वाक्य की व्याख्या करते हुए आदव आत्मज्ञान अपयम अविद्याम आत्मज्ञान के द्वारा जो निरस्य है त्याज्य है हटाने योग्य कौन अविद्या अज्ञान आत्मा का अज्ञान आत्मज्ञान अपयम अविद्याम दर्शे अविद्या को पहले दिखाते हैं जब तक अविद्या है भेद बुद्धि होती है क्या होती है अज्ञान जब तक है मैं करता हूं मेरा कर्म है ये मेरा फल है इस कर्म के द्वारा इस फल को प्राप्त करूंगा बुद्ध बुद्धि होती है उसी को पहले दिखाते हैं अविद्या को दिखाते हैं कहा आत्मज्ञान के द्वारा निवृत्ति करने योग्य जो अविद्या है उसको पहले दिखाते हैं क्रिया इत्यादि कहा हुआ है क्रिया कारण फल वेद बुद्धि और अविद्या इसी को अविद्या कहा जाता है अज्ञान का क्रिया बुद्धि कारक बुद्धि फल बुद्धि तीनों वेद बुद्धि होती है ये क्रिया है कर्म है मैं कारक हूं करता हूं और ये फल है ये जो तीन प्रकार की बुद्धि है इसी को अविद्या कहा जाता है क्रिया कारक फल भेद बुद्धि अविद्या क्रिया कारक फल में जो भेद बुद्धि होती है क्रिया है कर्म है और ये फल है क्रिया माने कर्म कारक माने कर्ता और फल ऐसी बुद्धि जब तक होगी तब तक अज्ञानी है वो विद्या आत्मा ने नित्य प्रवृत्ता है अनाधिकाल से चल रही है विद्या कैसे चल रही है ये तीन प्रकार की बुद्धि हमेशा चल रही है अनाधिकाल से चल रही है मैं करता हूं ये मेरा कर्म है कर्तव्य है और ये मेरा फल है इसी का नाम अविद्या है कहते हैं आत्मा ने नित्य प्रवृत्ता अनादिकाल से चल रही है या विद्या नित्य प्रवृत्ता क्या बोलती है बोलता है उसका अविद्या सवार है जब अनादिकाल से सवार है तो बोलता है मम कर्म ये कर्म मेरा है ऐसा बोलता है व्यक्ति जो अविद्या सवार हो जिसमें अज्ञान हो अज्ञानी हो क्या बोलता है तो मेरा कर्तव्य है मेरा कर्म है और अहम करता मैं करता हूं कर्म ये मेरा है और मैं करता हूं भेद बुद्धि और अमुष्मय फलाय आया इदम कर्म श्यामी उस फल के लिए स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुत्र प्राप्ति वो फल के लिए हम उसमें फल आ उस फल के लिए तब तक फल अनेक है उस फल के लिए इदम कर्म कनिष्याम इस कर्म को भी करता हूं ये जो वेद बुद्धि है अपने में कर्तापना और अपनी क्रिया में ममता होनी मेरी क्रिया है कर्तव्य कर्तव्य भिन्न भिन्न वर्णों के लेकर के भिन्न भिन्न कर्म है ये मेरा कर्म है और इस कर्म के द्वारा उस फल के लिए मैं ये कर्म करता हूं इत्यादि भेद बुद्धि है कर्म करिष्यामी इति यम अविद्या इसी का नाम अविद्या है हाँ। जो भेद बुद्धि है तीन प्रकार की भेद बुद्धि हो रही है इसी का नाम अविद्या है अनादिकाल प्रवृत्ता कहते कब से है ये हाँ, अनादिकाल से चल रही है अविद्या ज्ञान तो हुआ नहीं आत्मज्ञान तो है ही नहीं चल रही है नित्य प्रवृत्ता बोला था वही है यह नित्य प्रवृत्ता क्या है अनादिकाल प्रवृत्ता अनादिकाल से प्रवृत्त है बुद्धि हो रही है यह अज्ञान है यह विद्या है इसके निवर्तक होता है आत्मज्ञान अश्या अविद्या ये जो अविद्या है हम्म। ये तीन प्रकार से भाष रही अविद्या मैं करता हूं ये मेरा कर्म है इस फल के लिए उस फल के लिए मैं इस प्रकार के कर्म करता हूं इत्यादि जो भेद बुद्धि है अश्या अविद्या निवर्तकम इस अविद्या का जो निवर्तक क्या है इस प्रकार का ज्ञान होगा कैसा ज्ञान होगा निवर्तक अयम अहम अस्मी यही मैं हूं ये ज्ञान जैसे हाथ में रखे हुए आंवले के बारे में कोई संदेह नहीं होता या आंवला है विपरीत बुद्धि भी नहीं होगी संदेह भी नहीं होगा तो इस प्रकार अयम अहम अस्मि यही मैं हूं ऐसी बुद्धि आत्मा में आत्मबुद्धि ये ज्ञान उसका निवर्तक होता है जो अविद्या का निवर्तक होता है अयम अहम अस्मि केवल अकर्ता मैं केवल अकेला हूं कोई नहीं मेरे अकर्ता हूं अक्रियो क्रिया भी मेरे में जो कर्म नहीं होता मेरे में न करता हूं अफल फल भी नहीं मिलेगा न मैं करता भी नहीं हूं क्रिया कर्म भी नहीं मेरे में और फल भी नहीं न मत तो अन्य अन्यवस्थी कहते मेरे से भिन्न कोई है ही नहीं मैं अकेला ही हूं ये बुद्धि या विद्या का निवर्तक है निवर्तिक बुद्धि है निवर्तिका बुद्धि है न मत तो अन्य वस्ती मेरे से भिन्न कोई भी नहीं है न मत तो अन्य अन्यवस्थी कश्चित कोई भी नहीं मेरे से भिन्न कोई है हम्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म हम ब्रह्मास्मी इस बात में है ये बुद्धि ये जो ज्ञान है या उस अविद्या की निवृत्ति कौन सी अविद्या स्वरूप था मैं करता हूं ये मेरा कर्म है इस कर्म के द्वारा अमुक फल को प्राप्त करूंगा इत्यादि बुद्धि भेद बुद्धि का निवर्तक यही ज्ञान होता है क्या उन्हें अयम अहमस में मैं यह हूं निश्चय है केवल मैं अकेला हूं अकर्ता अक्रियो अफल मैं करता नहीं क्रिया नहीं कर्म नहीं फल भी नहीं नमत्व अन्यवस्थी मेरे से भिन्न कोई भी नहीं है नमत्व अन्योस्ति कश्चित मेरे से कोई भी नहीं इत्यादि जो वाक्य है इतम रूपम आत्म विषय ज्ञानम इस प्रकार के जो आत्मज्ञान है आत्म को विषय करने वाला ज्ञान है उत्पत्ति मानव जो ऐसे ज्ञान उत्पन्न होता हुआ उस अविद्या का निवृत्ति करता है उत्पन्न होने के बाद नहीं जैसे जैसे उत्पन्न होना उत्पन्न होता हुआ होता है उसी काल में अज्ञान नष्ट होता है जैसे सूर्य का उदय होना जैसा उदय होने के बाद अधेरा नाश नहीं होता और अधेरे नाश के बाद भी सूर्योदय नहीं होता समकालीन होता है यदि सूर्य उदय के पश्चात अज्ञान नाश होना हो तो सूर्य ने तो नाश नहीं कर सका अविद्या का नाश अंधकार का नाश नहीं किया क्यों सूर्योदय के पश्चात यदि नाश हो तो सूर्योदय काल में तो नहीं हुआ तो सूर्य ने नहीं किया अज्ञान नाशक नहीं आगे सूर्य ने यदि सूर्योदय होने से पहले अधर नाश हो फिर सूर्य में अधेरे का नाशकत्व तो नहीं आता समकाल में होता है जैसे जैसे सूर्य का उदय होना वैसे वैसे अंधकार इसी प्रकार यहां भी ये ज्ञान उत्पन्न होता हुआ कहा है उत्पत्ति मानव सामज है उत्पन्न होता हुआ ज्ञान अज्ञान का नाश करता है समकाल में है अहम हाँ। अहम अस्मी अकर्ता अक्रिया अफल इत्यादि जो ज्ञान हो रहा है यह ज्ञान उत्पन्न होता हुआ अज्ञान का नाश कर देता है जो अविद्या त्रिपुटी रूपी जो अविद्या थी उसका नाश करता है तो गीता में यही निष्कर्ष निकलता है आत्मज्ञान ही मोक्ष का साधन वही है केवल आत्मज्ञान ही है निष्कर्ष होगा हाँ कर्म जो थे आत्मज्ञान के साधन है परंपरा से मोक्ष साक्षात साधन तो आत्मज्ञान है ज्ञान के लिए कर्म है मोक्ष के लिए ज्ञान स्थिति ऐसी है ये कहा हुआ है ज्ञान उत्पत्तिवान कर्म प्रवृत्ति हेतु उताया भेद बुद्धि निवर्तकत्वा कहा जो उत्पत्तिवान ज्ञान है हम अयम अहम अस्म इत्यादि जो ज्ञान हुआ है अकर्ता अफल अक्रिया इत्यादि ज्ञान है ये उत्पत्तिमान जो ज्ञान उत्पन्न होता हुआ ज्ञान कर्म प्रवृत्ति हेतु भूताया भेद बुद्धि कर्म के जो कर्म के जो प्रवृत्ति कर्म में जो प्रवृत्ति होती है ना ये मेरा कर्तव्य है मेरा कर्म है मैं करता हूं आदि तो इनके प्रवृत्ति का हेतु क्या है वेद बुद्धि मैं करता हूं ये मेरा कर्म है इस फल ये फल है ये वेद बुद्धि उसके प्रवर्तक होते हैं कर्म प्रवृत्ति का हेतु कोई भी प्रवृत्ति होती है कारण के बिना प्रवृत्ति नहीं होती है तो कारण क्या है इसका मान भेद बुद्धि उसके निवर्तक होता है वो ज्ञान कौन ज्ञान आत्मज्ञान इसका निवर्तक होता है एक कहा तू शब्द पक्ष है व्यापक है तू दिया है संग्रह वाक्य में तू शब्द है आत्मज्ञान से तू केवल संग्रह वाक्य में कहा हुआ है तू शब्द दोनों पक्षों का खंडन कर देगा कौन कर्म से भी मोक्ष नहीं ज्ञान कर्म समुच्चय से मोक्ष नहीं ज्ञान से ही मोक्ष है ये तू शब्द दिया ये यही दोनों पक्षों का खंडन के लिए तू शब्द पक्ष जो है दोनों पक्षों की व्यावृत्ति के लिए है कर्म से भी नहीं और ज्ञान कर्म समुचय से भी नहीं ज्ञान से ही मोक्ष है इसके लिए तू लगाया है आत्मज्ञान से तू इत्यादि कहा न केवल वे कर्मव्यो न ज्ञान कर्माभ्याम समुचिताभ्याम निश्चर से प्राप्ति थी पक्ष द्वय बरते दिए यह तू शब्द पक्ष द्वय व्यावृत्ति अर्थ का उसी की व्याख्या आ गई न केवल वे कर्म केवल कर्म से भी मुख्य नहीं मिलने वाला न तो ज्ञान कर्माभ्याम समुचिताभ्याम ज्ञान कर्म समुचय होकर दोनों मिलकर के भी दोनों से भी निश्चय से प्राप्ति न पूर्व नकार मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती इति व्यावृत है दोनों पक्षों का व्यावृत्ति करता कौन तू शब्द जो संग्रह वाक्य में तू है वो तू शब्द की व्यावृत्ति के लिए अकार्यवाच निश्रेष से बोलते हैं देखो मोक्ष जो है ना अकार्य है कर्मादि के द्वारा कार्य नहीं है कर्तव्य नहीं है मोक्ष कर्तव्य करके प्राप्त करने योग्य नहीं है अकार्य है मोक्ष किसी से जन्य नहीं है कार्य नहीं है पहले से विद्यमान है वो तो केवल अंधेरे में रखा हुआ घट जैसा है उसको प्रकाश करना है ज्ञान के द्वारा प्रकाशित करना है अज्ञान से आच्छादित है आवरण भंग करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है आत्म प्राप्ति के लिए कोई कोई आवश्यकता नहीं है आत्म स्वयं है अकार्यवाच निश्रेष निश्रेष माने मोक्ष जो होता है ना वो कैसे अकार्य कार्य नहीं है किसी करके प्राप्त होने योग्य नहीं है वो कर्म साधना तो अनुपत्ति का इसलिए कर्म साधन उसका हो नहीं सकता किसका मोक्ष का अकार्यवाच निश्रेयस से कर्म साधन तो अनुपत्ति कर्म रूपी साधन वहां उपपत्ति युक्ति संगत नहीं है कर्म काम ही नहीं करेगा मोक्ष के लिए कर्म साधन हो नहीं सकता ज्ञान है उसका साधन क्या है जानना प्रकाश चाहिए छिपा हुआ वस्तु को प्रकाश चाहिए जैसे कमरे के भीतर अंधेरे में घट पड़ा हुआ है तो घट को उत्पत्ति के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है घट की केवल प्रकाश करना है अधेरा भगाने के लिए काम है प्रकाश का घट तो है ही विद्यमान है वहां अधेरे के कारण नहीं दिख रहा था उजाला कर दिया अधेरा भग गया घट दिखने लग गया इसी प्रकार आत्मा के प्रकाश करना होता है अज्ञान की निवृत्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता है ज्ञान की आवश्यकता भेद बुद्धि निवृत्ति के लिए है अज्ञान के द्वारा आच्छादित हैं आत्मा जैसे अंधेरे में पड़ा हुआ घट होता है अंधेरे से आच्छादित होता है वो इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित है आत्मा होता हुआ आत्मा तो उसके लिए क्या चाहे प्रकाश के अज्ञान रूपी प्रकाश अज्ञान नाश होगा आत्मा तो स्वतः है ये कहते हैं अकार्यत्वा मिश्रे से कहा कर्म साधन उत्पत्ति मोक्ष जो है ना कार्य नहीं है इसलिए कर्म साधन वाला जो कर्म साधन वाला होता है वो कार्य होता है जैसे स्वर्ग का कार्य आदि पैदा करता है यजमान क्या करता है स्वर्ग को किसके द्वारा कर्म के द्वारा कार्य जो होता है कर्म साधन वाला होता है मोक्ष कार्य नहीं है नित्य प्राप्त ही है वो इसलिए कर्म साधन वहां होना संभव नहीं है नहीं नित्यम वस्तु कर्मणा ज्ञान व क्रियते नित्य वस्तु को बनाया नहीं जाता चाहे कर्म के द्वारा हो चाहे ज्ञान के द्वारा किसी भी बनाया नहीं जाता पहले से है वस्तु तो। विद्यमान है पहले से ही नहीं ही मानी अस्मात कारण नित्यम वस्तु जो नित्य वस्तु है पहले से विद्यमान वस्तु है कर्मणा ज्ञान न क्रियते चाहे कर्म के द्वारा हो चाहे ज्ञान के द्वारा हो वो वस्तु को बनाया नहीं जाता नित्य है पहले से विद्यमान है वहां तो जो प्रतिबंधक है उसको हटाने का काम है प्रतिबंधक ज्ञान है उसको हटाना है केवल ज्ञानम अपनी अनर्थकम तरी पूर्वाज बोलता है महाराज जब मोक्ष प्राप्त नहीं करना मोक्ष पहले से है नित्य है अकार्य है तो फिर केवल ज्ञान में क्या कर लेगा मोक्ष को आपने कहा था केवल ज्ञान ही मोक्ष का साधन कहा नित्य अकार्य है तो ज्ञान भी क्या विशेषता करेगा मोक्ष के लिए केवल ज्ञान अनर्थक तब तो केवल ज्ञान भी अनर्थक ही होगा जैसे कर्म अनर्थक है नित्य वस्तु के लिए अनर्थक है हाँ, अकार्य होने से ठीक ज्ञान भी तो अकार्य वस्तु के लिए नित्य वस्तु के लिए क्या हो अतिशय दिखाएगा अनर्थक ही है पूर्व पक्ष है तो सिद्धांत कहते हैं ना अरे बाबा नहीं ज्ञान अनर्थक नहीं है मोक्ष के लिए क्यों अविद्या निवर्त करते सती दृष्ट ही कहा दृष्ट कैबल्य फलावसन तो कहते हैं अविद्या का निवर्तक होता हुआ ज्ञान अविद्या प्रतिबंध प्रतिबंधिका थी उसको निवर्तक होता हुआ दृश्य कैबल्य फलावसान तो कर रहे हैं देखा गया कैबल्य फल में अवसान होता है ज्ञान ऐसा देखा गया है कैबल्य फल में जाकर के समाप्त होता है ज्ञान केवल अकेला फल कराना फल होता है उसका जो अविद्या का निवर्तक होता हुआ देखा गया जो कैबल्य फल है उसी में समाप्त हो जाता है ज्ञान प्रयोजन है ज्ञान का नित्य वस्तु के लिए भी देखा गया है ज्ञान की आवश्यकता है अंधेरे में रखा हुआ घट का दृष्टांत है अंधेरे में घट है होने पर भी नहीं मिल रहा है तो उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता है किसके लिए अंधेरा भगाने के लिए हाँ, घट के लिए नहीं हाँ, अंधेरा भगाने के लिए ज्ञान की इस प्रकार अज्ञान आश के लिए ज्ञान की आवश्यकता है दृष्ट कैबल्य समय देखा गया है कैबल्य फल देखा है ये कहा अविद्या तमो निवर्तक से ज्ञान से ज्ञान जो है ना ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान जो बोलते हैं अविद्या रूपी अंधेरे को हटाने वाला है अविद्या तमो अविद्या रूपी तम यह अंधेरा है जैसे अंधेरा वस्तु का आच्छादन करता वो भी वस्तु का आच्छादन कर जाती कौन अविद्या आत्मा को ढकने वाली है होता हुआ आत्मा को नहीं है और मनुष्य आदि बुद्धि में परिणत करते विक्षेप करके आकर के आत्मा को ढक दिया रूपांतर को दिखा रही है अविद्या मैं मनुष्य हूं स्त्री हूं पुरुष में भावना और विद्या तमो तो निवर्तक से ज्ञान से कहा अविद्या रूपी जो तम है अधेरा है उसका निवर्तक जो ज्ञान है केवल आत्मज्ञान ज्ञान से दृष्टम कैवल फलावसान तुम कैवल्य फल में वो मोक्ष फल में ही अवसान होता है उसका मोक्ष फल में जाकर समाप्त होता है ये देखा है कहा टीका से देखना होगा आश्रय उगत्या तद अनादित्व आह कहते हैं क्रियाकार फल बुद्धि अविद्या है इसका आश्रय अविद्या है क्रियाकारक फल बुद्धि का आश्रय क्या है अविद्या जब तक है अविद्या तब तक क्रियाकारक फल होते रहेगा अपना अज्ञान यही है यह आश्रय यही क्रियाकारक फल का आश्रय अविद्या है आश्रय उत्वा तद अनादित्व आह अविद्या अनादि है यह भी कहते हैं हाँ अमुक सन तक तो अविद्या नहीं थी अमुक सन से अविद्या कोई भी नहीं देख बता सकता कब से अज्ञानी हो बता नहीं सकता अनादिकाल से है आश्रय तो अविद्या है भेद बुद्धि का आश्रय अविद्या तद अनादि और अविद्या अनादि ये कहते हैं आत्मनि इत्यादि कहा हुआ है आत्मनिदित्य प्रवृत्ता कहा था वास्तव में अनादिकाल से चल रही अविद्या मैं उस सन से पहले मैं अपने को जानता था उस सन के बाद में मैं जानना असमर्थ रहा कैसे बोल सकता कोई संसम्मत नहीं दे सकता अनादिकाल से आत्मा भटक रही है तामेव अविद्याम अनादि अनादि अविद्या उत्थाम प्रबंध प्रपंच ये जो अविद्या है आत्मा को ढकने वाली अविद्या तुला विद्या है शरीर आदि बुद्धि शरीर आदि में आत्मबुद्धि है ये वेद बुद्धि ये अविद्या कार्य रूप में आत्मा को ढक रही है मनुष्य रूप में दिख रहा है यह अविद्या दिख रही है ताम एवं अविद्याम अनादि अविद्या उत्थम उत्थम अनादि अविद्या से उत्पन्न है यह जो मूला विद्या है उसके द्वारा उत्पन्न है यह विद्या कौन अविद्या कार्य विद्या तुला विद्या शरीर आदि में आत्मबुद्धि हो रही जो जो काम प्रबंध यह अनर्थ स्वरूप यही है अविद्या कौन शरीर रूप में जो परिणत अविद्या है ना ये यही अनर्थ इसमें अहमता ममता होकर चल रहा है व्यक्ति एक मम इत्यादि कहा हुआ था इत्यादि कहा हुआ इसको कहा मम कर्म जो शरीर भाव में आया हुआ है उस अविद्या में पड़ा है कार्य कार्य रूप अविद्या में तो मेरा कर्म है बोलता है शरीर आदि में आत्मबुद्धि किए बिना मेरा कर्म कहना संभव नहीं है मेरा कर्म है मैं करता हम करता मैं करता हूं हम उसमें फलाया एकदम कर्म कर श्याम उस फल के लिए मैं इस कर्म को करूंगा इत्यादि बुद्धि हो जाती है भेद बुद्धि इति यम अविद्या अनादिकाल प्रवृत्ता ये जो अविद्या है अनादिकाल से चल रही है ये कहा टीका में कहते हैं अनादि अविद्या कार्यवाद प्रवाह रूपेण अनादित्व अशिया विवक्षित्व विषय देखो शरीर अनादि नहीं है शरीर में जो अविद्या शब्द का शरीर कार्य अविद्या लिया ये तो अनादि नहीं है प्रवाह से अनादि कैसे है स्वतः नाश होने पर प्रवाह से अनादि है जैसे बीज और वृक्ष बीज भी शादी है वृक्ष भी शादी है बीज से वृक्ष बनता है वृक्ष से बीज बनता है किंतु दोनों को जो धारा है वो अनादि है प्रवाह अनादि है न बीज अनादि है न वृक्ष अनादि है दोनों साथी हैं बीज से वृक्ष बनता है वृक्ष से बीज बनता है किंतु परंपरा अनादि है ये जो अभी वृक्ष बना है पूर्व बीज से और पूर्व जो बीज अना बीजा उसके पहले वाले वृक्ष से ये चलता रहेगा पूर्व पूर्व चलता रहेगा अनादि में जाएगा धारा अनादि इस प्रकार ये शरीर में भी अनादि है परंपरा अनादि है एक के बाद दूसरा एक के बाद दूसरा एक अनादि अविद्या कार्यत्वात अविद्या अनादि का कार्य है शरीर आदि जहां अहम ममपना हो रही है प्रवाह रूपेण स्वरूप तो शादी है किंतु प्रवाह रूप से अनादि है एक के बाद एक एक के बाद एक प्रवाह रूपेण अनादित्व अनादि अश्या विवक्ष अविद्या तुला विद्या शरीरादि में आत्मबुद्धि हो रही है ये अनादि है प्रवाह रूप से अनादि है इति जिसने विशेषण लगा दिया अनादि कहा हुआ है अनादिकाल प्रवृत्ता कहा शरीर आदि में आत्मबुद्धि कब से है अनात्म बुद्धि कब से आत्मबुद्धि कब से है अनादिकाल से है जहां भी पहुंचा अपने कर्म के अनुसार वहां आप आत्मबुद्धि हुए चाहे पशु में पहुंचा पक्षियों में पहुंचा मनुष्य में आया कहीं भी गया चौरासी लाख योनि में कहीं भी पहुंचा अपने कर्म के अनुसार वहां अहम मम ये चलता रहा ये मेरा है मैं हूं इत्यादि तत्र कारण अविद्या निवर्तकत्व आत्मज्ञान से बढ़ते अब इसमें क्या करना कारण अविद्या को निवृत्ति करने पर कार्य अविद्या स्वतः चली जाती है यदि धागा को जला देंगे तो कपड़ा रहेगा नहीं स्वतः ही नष्ट हो जाएगा इसमें कारण भी जो अविद्या है उसको नाश करेगा कौन आत्मज्ञान उसके बाद कार्य अविद्या स्वतः समाप्त हो जाएगी इसके लिए कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं ये बोल रहे हैं तत्र यवनादिकाल से प्रवृत्त है कार्य अविद्या कारण अविद्या निवर्तक तुम आत्मज्ञान हो कारण रूपी जो अविद्या का नाश करता आप क्या तोला ज्ञान का नाश है मूला ज्ञान नाश करने वाला आत्मज्ञान आत्मज्ञान आत्मज्ञान से उपनिषद कहा ये आत्मज्ञान को ही यहां रखते हैं उस मूला विद्या का नाश करने वाला कौन है आत्मजा इसको रखते हैं अश्या का हुआ इस अविद्या का निवर्तक कौन अनादिकाल से जो प्रवृत्त अविद्या है अश्या अविद्या निवर्तकम निवर्तक ज्ञान कैसा ज्ञान होगा उसका स्वरूप बताते हैं ज्ञान का स्वरूप अयम अहम अस्मी मैं यह हूं मैं शरीर आदि नहीं हूं जैसे हाथ में रखे हुए आंवले के बारे में कोई संदेह आदि नहीं होता हाँ, यह आंवला है इस पर अयम अहम मैं यह हूं अपने बारे में अयम अहम अस्मी यही है <clears throat> केवल मैं अकेला हूं अकर्ता अक्रिय अफल इत्यादि मैं करता नहीं क्रिया नहीं कर्म नहीं फल भी नहीं न मत तो अन्यवस्थिक मेरे से भिन्न कोई भी नहीं है एक अभिवाद युक्तियों में पहुंचा हुआ होता है इतम रूपम आत्मविषयम ज्ञान उत्पत्तिमानम इस प्रकार की जो आत्मा को विषय करने वाला ज्ञान है उत्पत्तिमान जो उत्पन्न होता हुआ ज्ञान भेद बुद्धि का नाश होता है कहते हैं भेद बुद्धि वाली अभिज्ञा का नाश कर्म प्रवृत्ति हेतु बताया कर्म के प्रवृत्ति के हेतु बोला ज्ञान है वो उसका वेद बुद्धि निवर्तक वेद बुद्धि का निवर्तक होने से कहा ठीक है मैंने ननु नेदम उत्पन्नम ज्ञानम निवर्त इदम उत्पन्नम ज्ञानम न निवर्त अविद्या का निवर्तक नहीं होता है ज्ञान अयम अहमश इत्यादि जो ज्ञान हुआ ये ज्ञान अविद्या का निवर्तक नहीं होता अविरोध है ना उत्पन्नत्वाद ज्ञान के साथ साथ उत्पन्न है अविरोध है विरोध होना चाहिए ना उसको नाश करने के लिए विरोध है ही नहीं अविद्या का ज्ञान का साथ साथ है एक न इदम उत्पन्नम ज्ञानम जो उत्पन्न हुआ ज्ञान इदम अज्ञान न थी निवृत्ति नहीं करता अज्ञान को क्यों अविरोधेन उत्पन्न अज्ञान काल में उत्पन्न हुआ है अविरोध है पहले अज्ञान का नाश तो हुआ नहीं जब तक अज्ञान अवस्था में ज्ञान होना है विरोध तो है ही नहीं अज्ञान को नाश करके ज्ञान होता तब तो बात थी अज्ञान का नाश करना है उसने बाद में तो अविरोध है उस काल में जब पैदा हुआ उस काल में अज्ञान है वहां बाद में नाश करेगा ना ज्ञान उदय होने पर अब विद्या का नाश होगा यही कहना चाहते हैं आप किंतु अविरोध से उत्पन्न हुआ है तो नाश नाश नाश भाव होगा नहीं विरोध होगा वहां होगा नाश नाश भाव अविद्या का नाश नहीं कर सकता है आत्मज्ञान अयम आत्मा आदि ज्ञान ये पूर्वादी की कहना है नो है पूर्वादि का न एकदम उत्पन्न ज्ञान हो जो उत्पन्न ज्ञान है आपका न निवरता यदि अज्ञान का निवृत्ति नहीं कर सकता है क्यों अविरोधन उत्पन्न अज्ञान काल में ही उत्पन्न हुआ है ज्ञान ज्ञान होने के पश्चात अज्ञान का नाश बोलते हैं अब यही बोलते हैं ना तो ज्ञान उदय काल में तो अज्ञान है अविरोध है विरोध नहीं है तो जब उत्पन्न काल में नाश नहीं कर सका आगे कब होगा सूर्योदय हुआ उसका अधेरा भागा नहीं है तो कब भागेगा अगर भागेगा नहीं भाग सकता वो सूर्य नाश नहीं कर सकता ये शंका है न तो अनुत्पन्नम अनुत्पन्न ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ ज्ञानी अज्ञान नाश नहीं कर सकता उत्पन्न हुआ है अविरोध के कारण अविद्या काल में उत्पन्न हुआ है वो नाश नहीं कर सके जो उत्पन्न ही नहीं हुआ वो ज्ञान भी अविद्या का नाश नहीं कर सकता तो अनुत्पन्न लबदात्मक अर्थ क्रिया कार्य का अनुप अलबदात्मक जो अपना स्वरूप भी प्राप्त नहीं हुआ है अर्थ क्रियाकारी तो उसमें आता नहीं है जो स्वयं है ही नहीं उस काल में वो दूसरे को क्या नाश करेगा अर्थ क्रियाकारिता कहां आएगी तो माने हाँ उत्पन्न ज्ञान भी नाश नहीं कर सकता अविद्या काल में उत्पन्न हुआ है विरोध है ही नहीं और अनुत्पन्न ज्ञान है ही नहीं ज्ञान तो कैसे नाश करेगा अविद्या का तो अविद्या का नाश होने का प्रसंग आता नहीं है ये शंका आ सकती है एकदम उत्पन्न ज्ञान जो उत्पन्न ज्ञान है यह न निवर्त है थी अविद्या का निवृत्ति नहीं कर सकता जो अविरोध है उत्पन्न अविद्या काल में उत्पन्न हुआ है ज्ञान ज्ञान होने पर अविद्या का नाश करता है आप यही कहना चाहते हैं तो ज्ञान होते समय तो अविद्या है ना अविद्या काल में उत्पन्न है वो न तो अनुत्पन्नम अलब्धात्मक जिसका अपना स्वरूप भी प्राप्त नहीं हुआ अनुत्पन्न अवस्था में है वो भी अर्थक्रियाकारिता उस अज्ञान का नाश नहीं कर सकेगा उसका प्रयोजन करने वाला नहीं हो सकता तो अभाव अर्थकारिक अर्थकारिकत्व का अभाव है अर्थकारित्व का अभाव होने से ये उत्पन्न ज्ञान भी नहीं कर सकता अनुत्पन्न ज्ञान भी अविद्या का नाश नहीं कर सकता तब कहते हैं नहीं नहीं उत्पन्न होता हुआ नाश करता है वाषिकारी बोलते क्या सत्री सत्रंत में सानुत लगा हुआ है मानम बोला हुआ है हाँ, उत्पन्न होता हुआ उसका नाश उसका नाश होना ज्ञान का उत्पन्न होना समकाल में होता है उत्पन्न होने के बाद भी अज्ञान का नाश है उत्पत्ति से पहले भी नहीं समकाल में जैसे सूर्य का उदय होना और अंधकार का नाश होना एक साथ होता है ऐसा है देखा उत्पद्यमानम कहा था उत्पद्यमान जो ज्ञान उत्पन्न होता हुआ ज्ञान सब ये सानस है उत्पद्यमान है उत्पर पद धातु से सानस कर बनाया है पदगत हो तो उत्पद्यमान ज्ञान कर्म प्रवृत्ति हेतु होता है कर्म के प्रवृत्ति का कर्म में जो प्रवृत्ति के कारण क्या अविद्या अज्ञान जब तक आत्मा का अज्ञान है तब तक कर्म करता है व्यक्ति भेद बुद्धि निवर्त जो प्रवृत्ति का कारण भेद बुद्धि होते हैं मैं करता हूं ये मेरा कर्म है ये मेरा फल है ये भेद बुद्धि प्रवर्तक होते हैं उसका निवर्तक होता है यह ठीक है कहते हैं कथम तस्य विद्या निवर्तक कारण अविद्या का निवर्तक कैसे होगा आत्मज्ञान तस्य मैंने आत्मज्ञान से जो आत्मज्ञान है वो कारण रूपी जो अविद्या है उसका निवर्तक कैसे हो कारण अविद्या चले गए तो कार्य अविद्या तो स्वतः नष्ट हो रहा है धागा जला दिया गया तो कपड़ा स्वतः नष्ट हो जा उसको जलाने के प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं यदि मूला विद्या को नाश कर दिया तो तुल शरीर आदि के आत्मोद्देश्य तो नष्ट हो जाना है प्रथम तस्य तो कारणा विद्या निवर्त हो तो कारण भी जो विद्या है उसका निवर्तक कैसे होगा आत्मज्ञान ये प्रश्न है इतिहास कार्य विद्या निवर्तत्व दृष्टि कहा देखो कार्य अविद्या की निवृत्ति देखी गई है यदि कारण होता तो कार्य विद्या की निवृत्ति नहीं होती शरीर आदि में आत्मबुद्धि की निवृत्ति नहीं होती आत्मज्ञान होने पर शरीर आदि में आत्मबुद्धि नहीं देखी गई तो अगर माने आत्म शरीर आदि में आत्मबुद्धि होती तो अज्ञान माना जाता मूला विद्या मानी जाती कारण के द्वारा कार्य हो रहा है वह कार्य में बुद्धि नहीं तो कारण नहीं समझ में आ जाता है मूला विद्या नहीं है समझ में आ जाता है कर्म इत्यादि का कर्म प्रवृत्ति हेतु होता आया जो कर्म में प्रवृत्ति के कारण है भेद बुद्धि निवर्त भेद बुद्धि का नाश होता है कौन आत्मज्ञान इसलिए केवल ज्ञान ही मोक्ष का साधन है ये सिद्ध होता है गीता के तात्पर्य विचार करने पर यह आ रहा है आत्मज्ञान से इत्यादि संग्रह वाक्य आत्मज्ञान से तो तू इत्यादि जो संग्रह वाक्य था मूल बता ना आत्मज्ञान से तो केवल से निश्चय से हेतु तुम वेद प्रत्यय निवर्तकत्व कविल फलावसान यथा वही है आत्मज्ञान से इत्यादि संग्रह वाक्य जो संग्रह वाक्य दिया संक्षेप में कहा हुआ था उसकी व्याख्या हो रही थी भाष्य में तू शब्द द्वितीय तू शब्द के द्वारा कहा हुआ क्या होगा दो पक्षों की व्यावृत्ति करता है न कर्म से मुक्ति है न ज्ञान कर्म समुचय से मुक्ति है केवल आत्मज्ञान से मुक्ति है ये कारण तू शब्द प्रकाशित होने वाला अविशेष तू शब्द द्वैत विशेषाभावात तद पूर्वाज बोलता है महाराज आत्मज्ञान से तुम्हें लगा हो तू शब्द को विशेष तो दिखता नहीं तो तू शब्द अनर्थक प्रयोग कर दिया भाषिकार ने तू क्यों लगाया आत्मज्ञान से तू करके तू क्यों एक पूर्वादि की शंका है आत्मज्ञान से इत्यादि संग्रह वाक्य संग्रह वाक्य में तू शब्द के तो व्यक्ति जो प्रकाश्य विशेष तो है ही नहीं कोई तू शब्द किसको प्रकाश करेगा विशेष का अभाव होने से तब अनर्थक तू शब्द अनर्थक तू शब्द अनर्थक है कहा इस प्रयोजन है आत्मज्ञान से तू में आयो तू ये शंका हो गई कहा तू शब्द पक्ष जाता है कर्म से भी मोक्ष नहीं है ज्ञान कर्म समुच्चय से पक्ष है दोनों पक्षों का खंडन नहीं है विशेष है जो तू शब्द के तरह प्रकाश्य विशेष है कौन ये दोनों मोक्ष के साधन नहीं हो सकते ये कहा है पक्षद्वय व्यावर्तकत्व एवं अश्य फुट है अश्य तू शब्द से तू शब्द दो पक्षों का व्यावृत्ति करता है किसका केवल कर्म से मोक्ष नहीं हो सकता और ज्ञान कर्म मिलकर भी मोक्ष नहीं हो सकता केवल कर्म ज्ञान से ही होगा मोक्ष ये दोनों की व्यावृत्ति के लिए तू तो शब्द है उसी कहा पक्ष द्वय व्यावर्तकत्व में अवश्य होने आत्मज्ञान से जो आत्मज्ञान है तो दोनों पक्षों का व्यावर्तक है यही स्पष्टीकरण करते हैं न कहा हुआ है न केवल कर्म केवल कर्म से भी मोक्ष नहीं हो सकता न तो ज्ञान कर्माभ्याम समुचता ज्ञान कर्म समुचय दोनों मिलाकर के भी मोक्ष नहीं हो सकता निश्चय प्राप्ति का मोक्ष की प्राप्ति नहीं इति पक्ष निवृत्ति कहा दोनों पक्षों की निवृत्ति कर देता कौन तू सब ये कहा है इतच कर्म असाध्यता मुक्त है आगे एक हेतु देते इस हेतु से भी अस्मात है इत्यस्त अस्मात रहा कर्म असाध्यता कर्म के द्वारा साध्य नहीं मोक्ष क्यों नित्य है वो क्या है हाँ। जो अनित्य वस्तु होता है स्वर्ग आदि अनित्य है वो कर्म के द्वारा साध्य होता है स्वर्ग पैदा करता है यजमान कर्म के द्वारा यज्ञ आदि कर्मों के द्वारा स्वर्ग की उत्पत्ति करता है ऐसा यहां नहीं नित्य है असाध्य है कर्म साध्य नहीं है स्वर्ग साध्य होता है या असाध्य है मुक्ति ये कहा यथस्थ कर्म असाध्यता मुक्ति का मुक्ति जो है ना कर्म के द्वारा साध्य नहीं साध्यत्व नहीं है मुक्ति में अकार्यत्वाच बोला था कार्य नहीं है उत्पन्न नहीं करता मोक्ष को निष्क्रिय से अकार्यता निष्क्रिय मान मोक्ष जो है ना अकार्य है कार्य नहीं है कर्म साधन और निष्क्रिय जो मोक्ष है कार्य न होने के कारण कर्म साधन तो अनुपत्ति कर्म साधन व्यवस्था होता कर्म के द्वारा क्या कार्य किया जाता है क्या साध्यता होती है कर्म साध्य होता है ये साध्य नहीं है अकार्य है इसलिए कर्म साधन नहीं होता मोक्ष का मोक्ष के साधन तो केवल आत्मज्ञानी है ये कारण है ठीक है ये नित्य महिमा ये कहा इसकी महिमा है ऐश्वर्य है नित्य महिमा है ब्राह्मण इस ब्राह्मण का ब्राह्मण से नित्य महिमा ब्राह्मण से न बढ़ते कर्माणा न कनिया कर्म करके बढ़ता भी नहीं इसकी इस आत्मा की कोई वृद्धि नहीं होती कर्म करने से और कर्म न करने से कोई हानि भी नहीं होती ह्रास भी नहीं कर्म करने से वृद्धि यजमान आदि की होती है देहात्म बुद्धि वालों की होती है इस आत्मा की ऐसा हाँ। नित्य महिमा ब्राह्मण से ब्रह्मभाव में पहुंचा हुआ जो व्यक्ति होगा उसका ये महिमा है नित्य महिमा है और क्या महिमा है न बढ़ते कर्म न कन्यान कहा हुआ है कर्म से बढ़ता भी नहीं कर्म न करने से करता भी नहीं है ऐसा है इस श्रुति नित्यत्व मोक्ष से अकार्यत्व यह श्रुति में मोक्ष को नित्य महिमा कहा हुआ है वृद्धारण में तो क्या है अकार्य सिद्ध होता है तो मोक्ष से अकार्य तो मोक्ष अकार्य है न तत्र हेतु अपेक्षा इति उपाधि उसे कर्म की अपेक्षा नहीं हेतु अपेक्षा नहीं है पैदा करना किसी के द्वारा जरूरत नहीं स्वतः सिद्ध और हाँ, वह प्रतिबंधक जो बना हुआ है उसको हटाने के लिए सब किया जाता है प्रतिबंधक अविद्या है ठीक है नहीं कहा हुआ है भाष्य में कहा था नहीं नित्यम वस्तु करुणा ज्ञान व क्रियते कहा नित्य वस्तु को न कर्म से पैदा किया जाता है न ज्ञान से पैदा किया नित्य वस्तु पैदा होता है नहीं पहले से विद्यमान है मोक्ष नित्य है ये कहना है ठीक है ज्ञान ना भी मोक्ष न क्रियते चेत तरी केवलम ज्ञान मुक्ति अनुपयुक्तम कुतस्त तत्र हेतु हेतुत्पति पूर्वादि और शंका करता है महाराज जब ज्ञान के द्वारा भी पैदा नहीं करना कर्म के द्वारा फिर ज्ञान भी तो किस लिए कहा मुक्ति का साधन ज्ञान क्यों बोलते हैं आप तो ज्ञान से भी कुछ किया नहीं जाता मुक्ति को नित्य है वो अकार्य है फिर ज्ञान से मोक्ष क्यों बोलते हैं ज्ञान को साधन क्यों बनाया आपने ये प्रश्न है ज्ञाने ना भी मोक्षो न क्रियते चेत यदि ज्ञान के द्वारा भी मोक्ष पैदा नहीं किया जाता जैसे कर्म से नहीं किया जाता क्यों तो नित्य होने से तो नित्य होने के कारण ज्ञान से भी यदि नहीं किया जाता तब तो तरी तब केवल ज्ञान केवल जो मुक्ति के कारण ज्ञान मानते आप साधन मानते हैं केवल ज्ञान केवल ज्ञान मुक्ति अनुपयुक्त मुक्ति के लिए उपयुक्त है नहीं ज्ञान भी क्यों मुक्ति नित्य है अनुपयुक्तम इति कुत तस्य तत्र हेतु दुधि इति है फिर वहां ज्ञान में मोक्ष के कारण तो बुद्धि कैसी होती है फिर मोक्ष का कारण यही है ज्ञान है ऐसे कैसे बुद्धि होती है क्यों अकारी है मोक्ष नित्य है तो ज्ञान से भी क्या विशेषता लाई जाए वहां जैसे कर्म से नहीं होता क्यों नित्य होने से कर्म साधन नहीं मोक्ष क्यों नित्य है तो ज्ञान भी साधन नहीं है क्यों नित्य है मोक्ष अकार्य है तो ज्ञान से क्या उपयोगिता वहां यह शंका आ गई तो उत्तर देते हैं केवल से इत्यादि कहा था केवल ज्ञान को अनर्थकम तरही ये पूर्वादि ने कहा केवल ज्ञान भी तो अनर्थक ही होगा मुक्ति यदि नित्य है तो उत्तर देते न अनर्थक नहीं है ज्ञान न निषेध करते हैं सिद्धांत अविद्या निवर्तक सती वो अविद्या का निवर्तक होता है मुक्ति को पैदा नहीं करता वो तो नित्य है किंतु मुक्ति में जो प्रतिबंधक है अविद्या मुक्त आत्मा को अपने को बद्ध माना होना है मैं बंधन में हूं यह भावना है उसको हटाने के लिए ज्ञान काम करता है स्थिति है अविद्या निवर्तकत्व स्थिति अविद्या का निवर्तक होता हुआ ज्ञान दृष्ट कैवल्य फलावसन होगा देखा गया है ज्ञान का फल कैवल्य फल देखा हुआ है मोक्ष फल देखा गया है माने बंधन की निवृत्ति हो जाती है फल मिलता है बंधन से मुक्त होना फल दिखाई पड़ता है फल है ठीक है वह कहते हैं ज्ञान अनर्थक दोष है सिद्धांत ज्ञान को जो अनर्थक बोला था पूर्वादि ने जब कर्म से मोक्ष नहीं है नित्य होने से क्यों ज्ञान से भी अनर्थक ज्ञान में क्या प्रयोजन वो नित्य होने से नित्य में क्या ज्ञान काम करेगा पूछा था कहें अविद्या का निवृत्ति ज्ञान मोक्ष के लिए तो कुछ नहीं करता ज्ञान मोक्ष तो स्वतः ही है उसमें जो प्रतिबंधक था अज्ञान उसका नाश कर देता है यही है ये कहना है तदेव प्रपजति कहा था उसी को विस्तार करते हैं अविद्या इत्यादि कहा था अविद्या हुए सदी दृष्ट कविले फलावसनत्वाद बोला था अविद्या का निवृत्ति करता हुआ दृष्ट फल वाला है ज्ञान देखा गया है जैसे अंधेरे में घर पड़ा हुआ है तो प्रकाश का जो हम काम लेते हैं क्या करते हैं कि अं-, अंधेरे का नाश करता हुआ फल दिखाई पड़ता हमें क्या दिखाई पड़ता है घट फल दिखाई पड़ता है वैसे होता है ज्ञान में प्रकाश है जैसे घट को प्रकाश का मतलब भौतिक प्रकाश है एक जानकारी भी प्रकाश है कौन सा प्रकाश ज्ञान ये वस्तु का अज्ञान था मैं नहीं जानता था आज जानकारी हो गई ये भी एक प्रकाश है मैं इसको जानता हूं ऐसा ये प्रकाश माना जाता है ज्ञान रूपी प्रकाश ऐसा है तो कहा ये संग्रह वाक्य है अविद्या निवर्तकत्व तो सती दृश्य कव्यल तो संग्रह वाक्य आगे इसकी व्याख्या होनी है ज्ञान का जो फल कैसा दिखाई पड़ता है अविद्या निवर्तक होता हुआ दृष्ट फल कैसे दिखाई पड़ेगा वो आगे इसकी व्याख्या होगी समय हो गया है क्या करते हैं फिर करते ओम पूर्ण पूर्णमदम पूर्णाद पूर्णमदे पूर्णस्य पूर्णादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम